उत्तर उत्तर के तत्व प्रकट हैं सर्वज्ञ निरत चयन बीजन सर्वज्ञ का बीज है जैसे तो ज्ञान को तो करे जितने तार्किक होता है इस निरत भी होना चाहिए यज्ञ सात्विकम तत्व सर्व निरत चयन परिमाण में लिखा जाता है तो फिर परिमाण सात्विक है तो कोई इसे निरत होता है ज्ञान में अल्प विषय ज्ञान अधिक विषय ज्ञान ज्ञान में प्राप्त होने से जो निरक्षित ज्ञान होगा जो निरक्षित ज्ञान उसमें सर्वज्ञ निरपित है जिसमें निरक्षित हो तो सर्वज्ञ होगा सब विषय ज्ञान अस्थिका सर्वज्ञ निजस्य साधु से प्राप्ति रखती होगा परिमाण बस काशित से तो निरसित होगा सर्वजनीय से प्राप्ति कहीं ना कहीं का निरसित है कहीं एक काष्ठा है जो निरसित होगा ज्ञान यत्र काष्ठा ज्ञान से सर्वज्ञ ज्ञान की जहाँ का शांति में सेना प्राप्ति वो सर्व विजय होगा वो तो सर्व विजय होगा तब पूरी सभी को सूची टीका में दिया व्यक्ति में जही जाए जितने शासित है तो निवर्तित होना चाहिए गुरु कर्म तो ये कम भोजन से अधिक भोजन से अधिक भोजन से रहता है किंतु उसमें तो सास निवर्तित है गुरु कर्म तो सबसे अधिक न तो गरिमा आदि मेरी गहिता है इति सांप्रतम न कल गरिमा अतिशयी गरिमा अवैधिना अवयव गरिमा से अतिशय वाले अवैध की गरिमा है अवैध का गुरुत्व अवैध गरिमा से अतिरिक्त है ऐसा नहीं है दो कपाल से घट बनेगा दो कपाल का जो वजन है उसका अतिरिक्त कोई घट का वजन अलग नहीं है इसलिए द्रव्य में जो गुरुत्व अनुभूत होता है अवैध परिणाम ही गुरुत्व ही है अवैध का कोई अलग गुरुत्व नहीं है जिस प्रकार अवैध रस से अलग अवैध का रस नहीं मानते हैं अवैध रस से ही दो तीन चार प्रकार रस वाले द्रव्य बनाया तो उसमें रस का अनुभव होता है पापड़ आदि में अलग उसके अवैध का रस नहीं है रूप में किंतु अवैध रूप की अपेक्षा अवैध का रूप अलग मानना पड़ेगा यदि अवैध का रूप है अवैध का रूप नहीं ऐसा कहेंगे तो अवैध का चाक्षित प्रत्यक्ष नहीं हुआ निरुप हो जाएगा अवैध का निरुप द्रव्य का चाक्षित प्रत्यक्ष जिस द्रव्य का रूप नहीं जिस वायु उसका चाक्षित प्रत्यक्ष होता है या नहीं किसका वायु का चाक्षित प्रत्यक्ष नहीं होता है क्यों उसका रूप नहीं है इसी प्रकार द्रव्य अवैधता यदि रूप नहीं रहेगा तो उसका चाक्षित प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए ये द्रव्य एक रूप है और एक रूप है इसका चित्र रूप है द्रव्य का प्रयोग दिखता है ये भी चित्र रूप है एक रूप नहीं अलग अलग रूप है ये भी चित्ररूप तो है कितने रूप से आया चित्ररूप है जब इसका रूप नहीं मानेंगे तो प्रत्यक्ष नहीं होगा चाकित चाकित तो प्रत्यक्ष होता है इसे चित्ररूप माना गया तुम चित्र रस नहीं मानते हैं चित्र रस तो नहीं मानने पर कोई आसक्ति नहीं जो खाते हैं कोई द्रव्य का अपराधी खाते हैं कुछ नमकीन में नमक मिठा खटा से मिलाकर बनाते हैं तो अवैध का रस अनुभव होता है अवैध निवास होने पर कोई आसक्ति नहीं होगी इसी प्रकार गरिमा गुरुत्व अवैध के गुरुत्व ही है अवैध का इसके गुरुत्व इसके गुरुत्व से अवैध का गुरुत्व संबंध करके अनुभव होता है अलग अवैध का गुरुत्व अलग नहीं है किंतु आ परमाणु जो आम क्या वैविध्यो ये आरंभ केतन तेषा प्रत्येक वस्तु में दर्मिन समाहृत्य गरिम वर्धमान अभिमान एक तो अभिमान होता है अवैध में वजन बढ़ी है जितने वजन अवैध का होता है अवैध बहुत मिलकर के अवैध बन जाने पर अवैध में अधिक वजन है लघु बनाए छोटा बनाए जितने वजन बड़ा बनाए तो बराबर वजन होगा ना या कम होगा क्या बराबर होगा या कम होगा बड़ा बनाए तो ज्यादा वजन होता है जो लड्डू का ओजन बड़ा लड्डू का ओजन अभी कहेंगे वो अवैध का ही ओजन है अलग अवैध का ओजन नहीं आप परमाणु परमाणु से लेकर के अंत्य अवैधी एक अवैधी होता है एक होता है अंत्य अवैधी अवैधी कपाल अवैध है है अवयव है अवयवी नहीं है तो कपाल अवयवी है या नहीं है अवयवी है अवयव है अवयव भी है अवयवी भी है घट का तो अवयव है कपाल का अवयव है नहीं घट का दो भाग ग्रंथि है क्या कपाल इस कपाल को तोड़ सकते है क्या इसका अवयव है कपाल का यदि अवयव है तो कपाल क्या हो गया अवयवी कपड़ा तोड़ दिया आठ दस टुकड़ा हो गया उसमें एक एक टुकड़ा ले गया छोटा टुकड़ा ये अवैध है अवैध ये कपड़ा का अवैध है अवैध नहीं है एक भी दो टुकड़ा कर दो अवैध है ये अवैध है फिर ये टुकड़ा करो प्रियम करे प्रियम को कितने प्रियम को रहता है तो प्रियम को अवैध है अवैध है जीवन करके अभी अवय भी उसमें जीवन का अवय है और चक्र में लिखे अवय जीवन का अवय है अवय भी का करे त्रियंग का अवयव तीन जीवन का त्रियंग बनता है और दो परमाणु होने पर जीवन बनता है तो परमाणु अवय किसका परमाणु किसका अवय जो जीवन का अवय हो गया अवय हो गया हाँ द्वम का अवरण का दिशा अवय भी है और द्वम के कटिका त्रियम का अवय भी है ऐसे तो उसके अवय उसके अवय चलते चलते घाट का एक अवय भी है दो घट मिलकर के क्या बनता है दो या तीन घट मिलकर के क्या बनता है बनता है कुछ इससे घट हो गया अंत्य अवयवी अवयवी के द्वारा जीवन को तो अवयवी शुरू हो गया परमाणु अवैध जीवन को अवैध क्रियण को अवैध एक अवैध अभी चलते चलते अंत्य अवैध है घट अंत्य उसको बोलते हैं जो अन्य द्रव्य का आरंभ तो नहीं हुआ कपाल दोनों घट का आरंभ करवा कपालिका का कपाल का आरंभ करे जीवन को क्रियण का आरंभ करवा जो घट इस प्रकार है घट से कोई द्रव्य बनता दो तीन चार घट बना करके द्रव्य बनाते तो घट भी अंत्यावय नहीं होता अन्य द्रव्य घट तो नहीं बनता है दो घट मिल करके क्या बन गया पता बन गया नहीं घोड़े घोड़े बन गया इसलिए क्या है द्रव्यांतर का अनारंभ होता जो अवैध अन्य द्रव्य का आरंभ तो नहीं हो तो द्रव्यांतर का अनारंभ को और अवैध द्रव्यांतर अनारंभ तो जो अवैध है इसको क्या कहते अंत्यावैधिकम की द्रव्यांतर अनारंभ के प्रति अवैधिकम ये तर्क समृद्धि में आ गया ये तर्क में पढ़ाते द्रव्यांतर अनारंभ के प्रति अवैध मंत्यावैध इसका अर्थ अंत्यावैध है वो इसका अवैध मिलता है जो अन्य का अवैध